नमस्कार इंडियन ऑयल संगीत सभा की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत और हम सब की ओर से पंडित भीमसेन जोशी और उनके साथियों का हार्दिक स्वागत अक्टूबर 89 की बात है जब श्री बख्शी डायरेक्टर मार्केटिंग हुआ करते थे और उन्होंने इस कार्यक्रम का आरंभ शुरू किया और पहले गायक थे श्री भीमसेन जोशी आज बख्शी साहब चेयरमैन हैं आज भी हैं आज तीस तारीख है कल इकतीस तारीख है कल वो रिटायर हो रहे हैं तो आज फिर हमें ये मौका मिला है पंडित जी की उपस्थिति का और पंडित जी ने पिछली बार जो कहा था एक हाथ चीज़ की शायद पुरिया धनाश्री या कोई राग था तो उन्होंने कहा था अगली बार गाएंगे पंडित जी के बाद इस संगीत सभा में वीना सहस्त्रबुद्धे पंडित जशराज पंडित मिसेस प्रभा अत्रे मास्टर यू श्रीनिवास मिसेस परवीन सुल्ताना मिसेस जरीन शर्मा मिसेस किशोरी आमनकर पंडित शिव कुमार शर्मा श्रीमती शोभा गुरटू श्रीमती अश्विनी भिड़े पंडित हरिप्रसाद चौरासिया प्रोफेसर टी एन कृष्णन पंडित विश्व मोहन भट्ट जिया फरीदुद्दीन डागर एंड बैक टू स्क्वायर वन वी हैव मिस्टर भीमसेन जोशी अगेन विथ हस कहते हैं ताल में ताल भोपाल का ताल बाकी सब तलैया उसी तरह से ऑयल में ऑयल इंडियन ऑयल बाकी सब अदर ऑयल तो ये जो इंडियन ऑयल है इसके भीष्म पितामह श्री भीष्म बख्शी हैं महाभारत के दो कैरेक्टर्स भीष्म और भीम अपने बीच मौजूद हैं इधर संगीत के भीष्माचार्य हैं उस भीम के शस्त्र था गदा इस भीम का है गला सिर्फ इतना सा फर्क है कार्यक्रम की शुरुआत हम रिटायरिंग चेयरमैन और उनकी श्रीमती जी के स्वागत से करते हैं तो मैं निवेदन करूंगा आ, उसके पहले हम पंडित जी का स्वागत करते हैं उसके बाद हमारे चेयरमैन साहब का तो मैं बख्शी साहब से निवेदन करता हूं कि वो पंडित भीमसेन जोशी को पुष्प गुच्छ दें फटाफट येऊ द्या हाँ, कमी जाए बच्ची साहब ने अभी और पुष्पगुच्छ देने हैं श्री तुलसीदास बोरकर जो हारमोनियम पे हैं उन्हें और श्री भारत कामथ जो तबले पर हैं उन्हें अब बारी है मिसेस बख्शी की जो कि पुष्प पुष्पगुच्छ देंगी नारायण देश पांडे जो तानपुरे पे हैं मिस्टर राजेंद्र राठौड़ जो भी तानपुरे पे हैं मिस्टर एम एन दीक्षित वो भी तानपुरे पर हैं और मिस्टर मौली जो मंजीरा के साथ साथ करने वाले हैं हमारे संगीत सभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री पठान से मैं निवेदन करता हूं कि वे संगीत सभा के पैटर्न रिटायरिंग चेयरमैन श्री बी के बख्शी का स्वागत करें चंदन के हार से एक का नाम पठान था और दूसरे का ड्रेस पठानी था देखा आपने अब मिसेस बख्शी को क्या है वो पुष्प गुच्छ देंगी मिसेस पठान इससे अधिक समय में अगर आप और पंडित जी के बीच रहा तो आप अलग किस्म की तालियां बजाएंगे उसके पहले मैं हट जाता हूं और पंडित जी से निवेदन करता हूं कि वो कार्यक्रम का आरंभ करें Uh, 人。 Lord, kaldı Alba. Bambi. Sabır mevzu alem ni re ga re ga re ni da re ni da re do ga re ma ma ga re ga re ma ga re ga re ga ma ma ga re ga ni re ga ma ga re da ni re ga re ga re ga re ga re ga ma ga ma ga ma ga ma ma da ma da ma da ma da ma da ma da ma da ma da ma da ma da ma ga re ಘಮ ಗರಿ ಗರಿ ನಿದ ನೀರಿ ಗಮ ಘಮ ಗರಿ ಧಮ ಗರಿ ಗರಿ ಜನಿ ರೇ ಜನಿ ದೌ ದಾ मद धम मदन मनी

भरा दुख É... बीजा को गम धम धाम गरि गरि धनि रे धनि रे धनि रे गम धाम गरि गरि गगरि गरि धद मद मद मद मद मद मद मद मद धम गम मगरि गरि धाम गरि गरि जाने रे जाने धारी रे ग मद धाम गम म गरि गरी धाम गरी धम धम गरी धरे गरे मरे धाम गरि गरि जाने चंगा मेले 尼里伽玛达玛达玛达玛达玛达玛达玛达玛达玛达里达里达尼里达尼达尼尼伽玛达尼里。玛达尼玛达玛尼尼达。玛达尼里尼达玛达尼里尼达玛达尼玛达玛。达尼达玛达玛达里达里达尼里达尼达尼里伽玛达尼里。伽玛达。 ನೀರಿ ಗಮದ ದನಿರೇ మద నిరే నిద మద మగరి గరి దని రే దని దని గమ దని రే దని దని 嘎嘎的嘎的嘎嘎，嘎的嘎的嘎的，嘎嘎的嘎的嘎。嘎嘎的妈妈嘎嘎的妈妈，妈妈的奶奶奶奶的奶奶，奶奶的妈妈妈妈嘎的嘎的，嘎的嘎的嘎的，妈妈的嘎的嘎的。大爷，嘎。 ਆਪਣੇ ਪਿਆ ਕੋ ਨਦਮੀ Cristo. Hi, hi, hi. 哎呀哎呀哎呀哎 पिया लो कर लो बिन ज्ञान न पावे गुरु बिन ज्ञान न पावे गुरु बिन ज्ञान न पावे गुरु बिन ज्ञान बीन ज्ञान न पावे गुरु बीन ज्ञान न पावे मन मूर्ख काहे सोच सोच पछुता गुरु बीन ज्ञान न पावे गुरु छूता न पावे गुरु बिन गान सदा गुरु की संगत करे रीत गुनियन में गुनी कहा छूता गुरु की संगत अरे रीत दुनियन में गुनी कहा बिन गान पावे गुरु बिन गुरु बिन गुरु बिन न पावे गुरु बिन गान न पावे गुरु बिन

¡Oh!